Упражнение по пройденному материалу. Фонетическая диктовка. पंछी पिंजर में था इनका घर नजदीक है मुझे किताबें दो क्या तेरा भैया तैयार है मैं छात्र नहीं हूं आसमान में तारे अनगिनत हैं देखो यह गाय है और वे कौए हैं अच्छी तरह लिखो क्या शीला और मीना कल आईं हिंदी भाषा में बोलो